बालक है अनंत प्रिय भक्ति वो अनंत का प्रिय है अयम मुश्किल में साक्षात महाभागवत को मान ये तो भगवान का परम भक्त है इसको तू मान भी नहीं सकता बोलो जब इंद्र से ये बात कही अच्छा महाराज जिसके गर्भ में भगवान का भक्त है तो उसी समय नाराज जी कहते हैं प्रहलाद कहते हैं कि इंद्र ने हमारी माता की परिक्रमा की और प्रणाम किया और क्षमा मांगी और हमारी माता जी को छोड़ करके नारद जी हमारी माता को लेकर के कोई तो आश्रम में आए और कहा बेटी हमारे आश्रम में रहो जब तक तुम्हारे पतिदेव तपस्या करके न लौटे हैं तब तक यही हमारे आश्रम में रहो नारद जी का आश्रम का तब तक ये साफ नहीं कर दिव्य सौ वर्ष तक हिरण्य तब तप तपस्या करते रहे और प्रहलाद की माता के गर्भ में बने थे भक्त्या ये चल नारद जी जो हैं प्रहलाद जी की माता को पास में बैठा लेते और धर्म और ज्ञान और भक्ति का उपदेश करते रहे कहते हैं मेरा उद्देश्य करके तो बोलो माता तो हमारी भूल गई और प्रपंच में फंस गई घर घर गृह घर गृहस्थ के पर ऋषि की कृपा से नारद जी की कृपा से उनका ज्ञान हमको ज्यों का क्यों बना हुआ अतो यदि मन बचा शब्द अधीरण अगर तुम मेरे वाक्यों में श्रद्धा करोगे तो ये मेरे हृदय का ज्ञान तुम्हारे हृदय में भी आ सकता और प्रहलाद जी कहते हैं मित्रों ये जन्माद्या षटमी गावा दृष्टा देह नापना ये छह जो विकार होते हैं शरीर के हैं जायते अस्थि वर्तते विवर्णमते अपक्षीयते विनश्यति ये शरीर के शरीर पैदा होता है बढ़ता है उसका परिणाम होता है क्षीण होता है एक दिन नष्ट हो जाता है फलाना वृक्ष से जैसे वृक्ष पर फल आता है फिर ठहरता है कुछ बढ़ता है फिर पकता है क्षीण होता है गिर जाता है अच्छा वृक्ष जो का तो बना रहता दूसरी वर्ष फिर फल आएंगे उस पर फिर गिर जाएंगे वृक्ष जो का क्यों तो रहता ऐसे आत्मा वृक्ष के समान है शरीर फल के समान है आत्मा को शरीर मिलते हैं शरीर नष्ट हो जाते हैं आत्मा क्यों का क्यों आत्मा नित्यो व्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय अभिक्रिया प्रदर्भेतु व्यापको संजनावृत एक द्वादश विरगुवान आत्मनुलक्षण पर ही अहम ममेत्य सद्भाव देहादौ भोभजन त्यजेत वृंदावन है अरे आत्मा के बारह गुण हैं आत्मा को इस तरह पृथक समझो शरीर से आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है आत्मा शुद्ध है और शरीर अशुद्ध है विलक्षण है कि नहीं शरीर आत्मा एक है और शरीर अनेक एक व्यक्ति जंगल में शौच गया कट्टी को गया और वहां से आकर के उसने लोटा मार करके हाथ वाथ दे करके खुला करके चल दिया वहां एक पंडित जी बैठे थे धर्मशास्त्र के जानने में उन्होंने कहा रे तेरा मुख अभी यह ये रहा रहा कि हमारा शौच जाने के बाद में सोलह खुल्ला करना चाहिए तब मुख शुद्धि होती है कर ली कुछ उसने लोहा खींचा और इन करके सोलह पुल्ला कर दी और सत्रहवीं बार मुंह में करके पंडित जी को कर तो बोले बड़े जिलाए में कहने क्या भी यहां पर ऐसा माना जाता है कि आत्मा शुद्ध है शरीर तो अशुद्ध है आत्मा एक है शरीर अनेक है आत्मा क्षेत्रज्ञ है शरीर क्षेत्र है आत्मा आश्रय है शरीर शरीर आश्रित है आत्मा अविक्रिय है शरीर तो विक्रिया वाला है आत्मा स्वप्रकाश है शरीर पर प्रकाश है आत्मा हेतु है शरीर कार्य है आत्मा व्यापक है शरीर व्याप्त है आत्मा असंगी है शरीर संबंध वाला है आत्मा अनावृत है और शरीर तो अनेक अविद्या से है एक द्वादश निर्विद्वान ही पर ही इन बारह लक्षणों के द्वारा शरीर से भिन्न आत्मा को समझना चाहिए जैसे पत्थरों में जो सोना होता है उसकी विधि जानने वाला व्यक्ति भ्रमणादिक उपायों से पत्थरों से सोने को अलग कर देता है इसी प्रकार क्षेत्र सुदेव नहीं योग अध्यात्म योग अध्यात्म विद ब्रह्म गति में होता इसी प्रकार शरीर रूपी क्षेत्रों में से विचार के द्वारा आत्मा को बखत करके ब्रह्म गति प्राप्त करने का ये आठ प्रकृति है तीन उसके गुण हैं षोडश विकार हैं इन सब में आत्मा अन्वित है देहस्तु सर्वसम्राटो जगतस्तु ऋतिपुद्रा अत्रैव मृत्या पुरुषो में और शरीर जो है सबका समुदाय समुदाय जितने तत्व हैं चौबीस तत्व सबसे मिला और शरीर दो प्रकार के हैं एक स्थावर एक जंगम अत्रैव मृत्यु इस शरीर में आत्मा को जुड़ो और काम जुड़ो आत्मा का दर्शन इस शरीर में होता है और कहीं नहीं होता और मनुष्य शरीर में ग्रह के शरीर में ग्रह थोड़ी आत्मा का साक्षात्कार कर सकते अब त्रय उम्र क्या पुरुषों नेति नेति त्यजन नेति नेति करके कोई वस्तु जहां खोई हो वहां ढूंढोगे तो वहीं से मिलेगी नहीं ग्रहे नष्टम बहिर्मृत्य थे घर में खोई हुई वस्तु और बाहर ढूंढोगे तो कहां मिलेगी एक बार आंदोलन से ठहरे हुए एक व्यक्ति आया उसे लाभ होकर के पूजा करने आता बोला महाराज मेरा सोच ज्ञान नहीं गर्म कोट मिल रहा है चारों देखा हम हाँ, जब घर गया तो वहां उसको मिल गया तो वहीं छोड़ा तो घर में जो कोई भी वस्तु रखी हुई वस्तु है बाहर घूमो में तो कहां मिलेगी न ग्रहे नष्टम बहिर्मृत्य थे ऐसे जो यहां ही खोया हुआ हमारा आत्मा शरीर मौजूद अन्वय बुद्धि कारण सपना सुख ये जागृत अवस्था स्वप्नावस्था सुसुप्ति ये बुद्धि की जागृत अवस्था जो है सत्वगुण सत्वगुण प्रधान है स्वप्न सत्वगुण प्रधान है सुसुप्ति तमोगुण प्रधान ताय निगाम भूयंते संता तुम्हारा हम आए तीनों अवस्थाओं पर है तुरियाम पुरुषोत्तम चौथा हुआ है जो इन तीनों में रहता अरे तीनों कमरों में जो आता जाता है वो चौथा व्यक्ति है कि नहीं हाँ, इसमें आकर के भोजन करता है इसमें आकर के विश्राम करता है इसमें आकर के लोगों से मिलता जुलता है जो तीनों तीनों जगह तीनों कमरों में आने जाने वाला व्यक्ति चौथा होता है ऐसे ही तीनों अवस्थाओं में आने जाने वाला आत्मा चौथा है इस प्रकार जो है अपनी मित्रों को ज्ञान दे रहे हैं तस्मात्म कर्मणाम बीज निर्हरणम योगा प्रभाव कर्मो यह और तो महाराज प्रहलाद ने कहा मित्रों भगवान की उपासना करने में कोई कठिन नहीं प्रयास प्रयासो सर्वावतारे उपासने से हृदय भगवान को प्राप्त करना भगवान की उपासना करना कोई कठिन नहीं है क्यों वो तो हमारे हृदय में बैठे हमारे मित्र हैं हमारे हितेशी हैं हमारे सखा हैं उनसे मिलना क्या कठिन अपनी जाति वाले व्यक्ति से जो कोई मिनिस्टर हो जाता है और जिस जाति का होता है उस जाति वाले लोग जो है निर्भय होकर क्यों सुन अरे वो तो हमारी जाति का फिर वो परमात्मा वो कहते हैं प्रहलाद जी वो तो हमारी जाति के हैं हमारे मित्र हैं हमारे सखाए हैं हमारे उपेशी और तो प्रहलाद के वचनों को सबने मान लिया ठीक है सब प्रहलाद के न्याय बन गए बोलो हमारे हमारा उपदेश तुमने सुना हमारा सब बच्चे खड़े हो गए बिल्कुल जो आप कहते हैं वो ठीक अच्छा बोलो हमारी बात सब तो मान्य है तो सब करो भगवान का सब बच्चे इकट्ठे होकर के भगवान नाम का कीर्तन कर रहे दैत सुधा निर्दोषम प्रहलाद वाक्यम हूं गुरु शिक्षितम गुरु जी ने आज तक जो पढ़ाया था सारा पर पानी छोड़ दिया तो सब बेकार की बात से और इन लोगों ने हमको सबको सब बेकार की बात पढ़ाई प्रहलाद की बात प्रहलाद जी की बात बिल्कुल ठीक और जो है जब वो लोग गुरु लोग वहां आए और देखा कि तो प्रहलाद के साथ सहसरों बच्चे एक साथ कीर्तन कर रहे हैं सब मिले हुए हैं गुरु जी को आया हुआ देखते भी नहीं डरते हैं उन्होंने देख लिया गुरु जी आ गए तो सब कीर्तन में मस्त है प्रहलाद के साथ करे तो अब तो वो स्वयं कर गए उन्होंने की अब तो इनकी यूनियन बन गई भाई काम जाकर के तो जैसे कोई पैर से छोटा मार देता हूं वो जैसे सर्प एवं शसन और सांस लेता हुआ प्रहलाद उनको तो बुला प्रहलाद की रात में के तो उनके सामने खड़े और बोला मंदा मंदात्मा अरे वो दुष्ट प्रहलाद तू हमारे कुल के बच्चों को बोलना मेरे शासन का मेरे शासन का तुमने उल्लंघन किया है अच्छा ले अब तुझे हिमाचल में आज नहीं पहुंचा जब मैं क्रोध करता हूं तो तीनों लोग कांपने लगते हैं मैंने किसके बल पर मेरे शासन का उल्लंघन किया तो किसका बल है बोले जिसका आपको बल है जितने बलवान हुए हैं सबके पास भगवान का ही शक्ति होती है भगवान का ही बल होता है और न केवलम में अवतश्च राजन वो हमारा और आपका ही बल नहीं है सवई बलम बलिनाम चा परेशान जितने बलवान हुए हैं सबको भगवान का ही बल और तो आगे मिलेगा उन्हें ब्रह्मादयो ये न वसम प्रियंका ब्रह्मादय देवता सब जिनके वश में रहते पिताजी ये आपकी सुधार तो दो दुनिया में कोई शत्रु नहीं हिरण्य कशु बुलावे विष्णु तो वो प्रहलाद हरे मंद भाग्य तू जो कहता है मेरे से अन्य तुझे ईश्वर कहां मालूम होता मदन्य जगदीश्वर अवस्था का क्या कहां है प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी कहते हैं आप कहां हैं हम कहते हैं वो कहां नहीं है सर्वत्र कर दे रहे तो तभी स्तंभे को सामान्य दृश्य थे वो संभाए खुला जिस पे पूजा फहराई जाती थी एक बहुत बड़ा मोटा सुंदर और अरे खंभे में कहां दिखाई देता प्रहलाद जी ने नीचे से पत्र देता तो काली जी कर शादी अच्छा तो वो तेरी रक्षा कर ले ले अब मैं तेरा सिर पृथक किए देता आप में खड़ग लेकर के तलवार लेकर के उसे खड़ा हुआ और पहले इस खंभे में जोर से एक मक्का मारा तदैव तस्मिन निनदो भीषणो बभूवेदांगतपास्तुत मुक्का मारा तो उसने बड़ी जोर से गर्जना हुई और हिरण्य को इधर पर देखने लगा ये शब्द कहां से आया बस जो इधर उधर देख ही रहा था उसी समय भगवान मृत्युंजय ने अपने भक्तों के वचन वचन को सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम निज वृत्ति करूं भक्त प्रहलाद के वचनों को सत्य करने के लिए संसार में परमात्मा व्यापक है इस वेदवाणी को सत्य करने के लिए तो अद्भुत रूप धारण करके नृसिंग रूप से भगवान प्रकट हो बोलिए और एक मिनट अरे सप्तवेदम ये कौन वो आधा का मनुष्य का शरीर आधा पशु का नारी से नीचे नीचे मनुष्य ऐसे विष्णु भगवान प्रकट उनकी कटे हुए सोने के समान उनके नेत्र थे गुफा के समान उनका मुंह खुला हुआ था पहने पहने उनकी खराब दृष्टता है और विशाल वृक्ष पतला उनका उदर नखरी उनके आदि आयु थे सफेद बाल उनके शरीर पर थे इस प्रकार प्रसन्नम नृसिंह भगवान थे तब तो तथो दैत्यो वृषात जगया एक गदा नहीं करके तो भी करा नहीं भगवान का पाठ एक गदा लेकर के भगवान को मार नृसिंह उसके छठ कटा करके भगवान नृसिंहदेव के हाथ से छूट गया हाथ में तलवार लेकर के तलवार के हाथ उठाने भगवान बड़ी जोर से हंसे और हंस करके और फिर ऐसे को कर दिया जैसे तर्क किसी मुंह से को पकड़ा आप बच्चों नहीं निकल के जा सकते और उन्होंने अपनी जनताओं पर उसको लगा दिया बस हृदय संध्यायाम न कई संध्या का समय था और अपने नाखूनों से उसका जो शरीर है जो ईश्वर है उसका उदर तो विदीर्ण करता है बोलिए सिंह रक्त की बिंदु जो उसके शरीर से निकली उससे सारा शरीर पर रक्त की बिंदु शोभा मानती भगवान शरीर पर उसकी आंखों को निकाल करके माला की तरह उन्होंने अपने डाल दिया गले में और उछल करके सिंहासन पर जाकर के बैठे तो उसको मारा को तो और सिंहासन पर अपने भक्तों को बैठाना है तो उसको शुभ तो कर दिया जाए सिंहासन को अब उनसे भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है उसको रेण कृष्ण को मार भी दिया तो भी लाल लाल लेते हैं अब किसी का साहस नहीं होता है तो भगवान के पास कोई चला जाए भगवान शंकर बोले महाराज क्रोध का समय तो आपका जब युगों का अंत होता है तब तब तो आप क्रोध करते हैं तो अभी तो कोई प्रलय का समय नहीं है अब आप अपने क्रोध को शांत कीजिए इस तरह से सब ने देवताओं ने नागों ने किम पुरुषों ने वैतालों ने सब ने भगवान की स्थिति पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ साक्षात लक्ष्मी प्रेषण पर देवताओं ने सोचा कि तो पति जब को जब क्रोध होता है तो स्त्री उसको शांत करना चाहती तो लक्ष्मी जी को भेजो तो लक्ष्मी जी उनको शांत करना उनसे प्रार्थना करी भगवती देवी भगवान ने अद्भुत अवतार ग्रहण किया है और इस समय क्रोध में भरे हुए हैं आप उनको शांत कीजिए लक्ष्मी ने कहा उनको तो तुम जानते इतना ही क्रोधी हो तो हम उनको शांत कर देंगे हमको तो, तो देखते ही उनका क्रोध निकल करके साक्षात श्री प्रेषिता देवी दृष्टा तन महत्व लक्ष्मी आगे गई और वो ऐसा भयंकर अद्भुत जो भगवान का स्वरूप था तो बीच में से वहां से लौटाई पूजा की सामग्री पूछा अरे तुमने अरे देवताओं वहां लाकर कर दिया मैंने अपने पति को इस रूप में कभी नहीं देखा प्रहलाद जी पास में खड़े थे ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम्हारे रक्षा के लिए अवतार हुआ आप तुम भगवान के क्रोध को शांत कर सकते हो उनके पास में जा सकते हो अपने ने जी का जा सकते तथेत शनक राजन महाभागवतों भका गोपेत खुद कापेन पाए नाम विस्तान प्रहलाद जी जो निर्भय होकर के चले गए उनको कोई भय नहीं था जैसे सिंह के पास जाने से और सब लोग डरते हैं पास सिंह का भी होता है तो उसके पास चले तो सिंह की गोद में बैठ गया सिंह की पीठ पे चढ़ गया सिंह के बच्चे को सिंह से क्या है और तो नृसिंह भगवान से और सब डर रहे थे तो नृसिंह के भक्त को नृसिंह से देखा प्रहलाद जी चले गए भगवान के चरणों में गिर गए स्वभाग मूले पतितम समर्थकम विरोध्य देवा कृपया परिवृत लेकिन भगवान ने देखा इस समय ब्रह्मादिक देवताओं का साहस नहीं हो रहा हमारे पास आने का और ये छोटा सा बालक आकर के हमारे चरणों में गिर गया है उनके हृदय में से क्रोध निकल गया और दया का उदय हो गया प्रेम का उदय हो गया जब हृदय में प्रेम आ गया दाह दया आ गई तो फिर क्रोध कहां है भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा कालाय वित्रस्त दिया प्रताप है जो काल से भी निर्भय करने वाला भगवान का वर्ग हस्त है भगवान ने प्रहलाद के हाथ से प्रवट दिया और भी जो कोई इनके संस्कार थे वो भी नष्ट हो गए सतत परस्पर्श दुता विलाक्ष अशुभ और भी सब नष्ट हो गए प्रहलाद जी भगवान की स्थिति करने लगे तो प्रेम गया राजा ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धा वचसा प्रवाही प्रवाहै नाराधितुम् पितु किन्तोष्टुमरहत समे जाते महाराज ये ब्रह्मादिक देवता जो हमेशा ये सात्विक जिनकी वृत्ति है सतोगुण प्रधान जो देवता हैं और ब्रह्मादिक देवता वचसाम प्रवाही अगर ब्रह्मा जी स्तुति करने लग जाए तो वो तो अनंत काल तक स्तुति करते रहे हजारों वर्ष तक स्तुति करते रहे उनकी बुद्धि का क्या ठहरा वर्ण देवता भी जब आपको प्रसन्न न कर सके तो मैं दैत्य कुल में उत्पन्न होने वाला बच्चा बेपढ़ा लिखा मैं आपकी क्या स्तुति कर सकता हूं प्रहलाद जी कहते हैं महाराज आपको प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए धन की आवश्यकता है ना बोलो सतकुल में जन्म इसकी आवश्यकता नहीं सौंदर्यता पांडित्य कांति शरीर इनकी कोई आवश्यकता नहीं आप कैसे प्रसन्न होते हैं भक्ति ही वो भक्ति से प्रसन्न होते हैं क्या प्रमाण है भक्त्या प्रदोष भगवान कदिन चुका है हाथी में क्या था कोई हाथी धनी था क्या कोई सतकुल में जन्म था क्या कोई पंडित था प्रहलाद जी कहते हैं बारह गुणों से युक्त ब्राह्मण की अपेक्षा जो आपका वक्त चांडाल है उसको मैं श्रेष्ठ समझता हूं विप्रात विषट गुण युता अरविंदना को पादारविंद विमुखा वरिष्ठम मन्ये बारह गुणों से युक्त ब्राह्मण उसकी अपेक्षा भी वो स्वपक्ष चांडाल श्रेष्ठ है जो भगवान का भक्त है और ब्राह्मण बारह गुणों से युक्त है पर भगवान का भक्त नहीं है अरे तो वो अपना भी उद्धार नहीं कर सकता दूसरे का क्या उद्धार करेगा और जो भगवान का भक्त है स्वपच भी है वो अपना भी उद्धार कर लेगा अपने कुल का भी उद्धार कर लेगा पुनाथ सकुलम नत भूमिमाना माना नैवात्मन प्रभुरयम निजजावपूर्णो मानोजनादविदुषा करो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथामुखश्री प्रहलाद जी कहते हैं कि हम भक्त जो आपको अर्पण करते हैं कोई वस्तु तो क्या आपको उसकी क्या आवश्यकता है आप उसको जो स्वीकार कर लेते हैं तो आपको उन भक्त की दी हुई वस्तुओं की कोई आवश्यकता है कि आप तो निज लाभ पूर्ण है आत्मज्ञान से ही आप पूर्ण हैं फिर <clears throat> आप करुणा से करुणा करके भक्त की दी हुई वस्तु को स्वीकार करते हैं कैसे जो आपको वस्तु अर्पण की जाती है वो तो अपने को ही मिलती है ना भक्त को ही मिलती है ना लौट करके कैसे प्रतिमुख से यथामुख श्री जो बिंब को अर्पण की जाती है वही प्रतिबिंब को मिलती है अब देखो आपने भगवान के खजाने में जो जमा किया है भगवान को जो वस्तु अर्पण की है तो आपको मिल रही है आपको मकान मिल रहा है वस्त्र मिल रहे हैं और भगवान को जो जिन्होंने अर्पण नहीं किया उनको रहने को मकान नहीं है खाने को भोजन नहीं है तो भगवान को जो अर्पण की जाती है वो तो भक्त को मिलती है भगवान उसका क्या करेंगे जैसे कोई माता का भक्त बालक ला करके माता को अर्पण कर देता है तो उसकी माता उसी के लिए संचय करती रहती है जोड़ जोड़ के रखती रहती है और हाँ, बेटा ये तेरे ब्याह के लिए हो जाएगा ये तेरे आगे उसी बच्चे के लिए जैसे जोड़ती रहती है ना और अपना मिला देती है कुछ हाँ, जो बालक देता है उसे तो रखती है और भी उसमें अपना मिलाती रहती है और सब उसको दे देती है ऐसे भगवान भक्त जो जो भगवान को अर्पण करता जाता है भगवान सब उसका जमा रखते हैं कोई कहते हैं जो द्रौपदी की जब साड़ी खींच रहे थे तो भगवान बढ़ा रहे थे कोई बताते हैं एक बार भगवान के पैर पैर में कोई ठोकर लगी रक्त निकलने लगा और लोग तो रानियां रुक्मिणी आगे पर दौड़ी कोई वक्त वस्त्र लाओ कपड़ा लाओ कुछ लाओ द्रौपदी मां खड़ी थी इतनी देर में उसने खट से भी साड़ी पार करके फिर भगवान के पैर में वो विचार ही नहीं किया उसने वो अमूल्य साड़ी बढ़िया भी खट से भी फाड़ के भगवान ने ध्यान में रख लिया बोलो वो ये तेरा छोटा सा चीज ये काम देगा देखो उसी को अनंत करके भगवान ने दे दिया देखो प्रतिमुखस यथा मुखश्री जैसे आप दर्पण में अपना मुंह देखें अच्छा दर्पण में जो आप अपना मुख देख रहे हैं तो दर्पण वाले मस्तक में थोड़ा तिलक लगा दो आप कैसे लगाओगे दर्पण इतना ठोस है उसमें तो एक तिल भी नहीं जा सकता और दर्पण में जो मुख दिख रहा है उस पर मस्तक पे तिल, तिलक कैसे लगेगा कि यहां लगा लो वहां अपने आप पहुंच यहां माला पहन लो वहां अपने आप दिखने लगेगी